विद्यालयों में बात सोची जाती है कहां आजकल के माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों को ईश्वर के संबंध में जनाने की बात करते हैं कुछ भी नहीं कैसी गंभीर अवस्था आप ब्रह्मचारी अध्यापक पता नहीं ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं कि इस समय इस आर्यावर्त देश में जो होती है भयंकर वो आपको परिज्ञात है या नहीं पता आप में से कुछ लोग सोचते होंगे मेरे माता पिता दुखी होंगे हमारा परिवार इतना धनवान नहीं है इसमें संबंधियों को भी कष्ट होगा मैं यदि माता पिता की बात मान के मैं चाहता हुआ भी गृहस्थ में जा, न जाऊंगा तो बड़ी बाधा पड़ेगी उस परिवार को कुछ धन संपन्न बनाना चाहिए आप कितना सोच सकते पर कभी आपने ऐसा सोचा कि वेदों की स्थिति क्या है दर्शन विद्या की स्थिति क्या है वैदिक संस्कृति की स्थिति क्या है आर्यों की परंपरा की स्थिति क्या है ऋषियों की परंपरा को कैसे मारा जा रहा है अन्याय कैसे अग्रसर हो रहा है अज्ञान पढ़ाया जा रहा है और ज्ञान को दबाया जा रहा है उखाड़ा जा रहा है राजनीति के क्षेत्र में देखिए एक राजनीति सीधे देश के लोग विदेशों के लोग जो भारत को कैसे कुचलना चाहते हैं कैसे उसका विनाश करना चाहते हैं दूसरा वर्ग संप्रदाय के रूप में किस प्रकार भारत को खा रहा है जो आर्य विचारधारा के लोग हैं जिनको हिंदू आर्य कहते हैं उनमें नए नए संप्रदाय खड़े हो हो करके वो हिंदुओं को बांट बांट करके समाप्त कर रहे हैं वो न फिर हिंदू होते न आर्य होते वो एक तीसरे मत वाले लोग होते कभी ध्यान नहीं देते आप चाहते आज ये गायत्री परिवार खड़ा हो गया इसकी नई मान्यताएं नई कल्पना आज ये ब्रह्मा कुमारी खड़ा हो गया इसकी नई कल्पना आज एक और हो गया उसकी नई कल्पना ये सारे के सारे छठ छठ करके आर्यों में से ही हिंदुओं में से ही जाते हैं अब हिंदू नाम की चीज आर्य नाम की चीज आ रहे जाएगी उसमें बैठे जाएंगे से ये संप्रदाय को कोई देश की वेदों की परंपरा और आर्यों की परंपरा बल्कि आर्यों की परंपरा और वेद की परंपरा के विरोधी होते हैं और ये दूसरे संप्रदाय तो इनसे अतिरिक्त जो बड़े बड़े हैं उनकी कितनी भयंकर शक्ति है हमारे तुलनात्मक हमारे जीवन के संबंध में आपने सुना हो हम सुनते रहते हैं और देखते भी जितनी जनसंख्या होती है इनकी संप्रदायों की जहां जहां इनके अपने बड़े वो होते हैं इनके कार्यक्रम होते हैं मक्का मदीना की बात सुनी दस दस लाख मक्का मदीना में यहां के लोग जाते हैं अरबों रुपया खर्च करते हैं उनमें जितने तैयार होते हैं एक विद्यालय की घटना सुनाई देवबंद की उसमें अकेले में तीस हजार युवक कुरान के विद्वान बनते हैं और वो देश विदेश में अपना जीवन लगाएंगे यहां अपने तीस ब्रह्मचारियों की व्यवस्था नहीं आदि समाज में तीस की व्यवस्था नहीं है अच्छे ब्रह्मचारियों की जो व्यवस्था जिसको कहना चाहिए हां मुकाबला करेंगे आप इतना तो सोच लेते होंगे घर है घर में ये हो गया आ, आपको ये दिमाग पे आपको मिला कभी जिसके हम पुत्र हैं जिस जो हमारा पिता है अनादि पिता है अनादि गुरु है अनादि राजा है अनादि उपास्य है वो क्या चाहता है ये कभी सोच सोच के तो देखो आप इस और तो सोचा अपने कुटुंब की ओर जो अनादि पिता माता गुरु आचार्य है उसकी ओर क्यों नहीं सोचा आप सदा से सब देता आया आज देता है आगे दे देगा उसके लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा अपने घर व्यक्तिगत परिवार प्रांत उसके लिए सोचता चला जा रहा है जितना दिमाग खराब ईश्वर क्या चाहता है सबका भला चाहता है और सबका भला कैसे होगा और क्या चाहता है किरणमन तो विश्वम आर्य विश्व को आर्य बनाओ आर्य ईश्वर पुत्र है ईश्वर का जो पुत्र है वो आर्य है पुत्र कौन होता है जो उत्तम पिता की आज्ञा का पालन करता है उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाता है उसके गुणक्रम स्वभाव अपने अंदर उतारता है हम यदि ईश्वर के अनुरूप अपने गुणक्रम स्वभाव को बनाते हैं और अपने को तैयार करके फिर विश्व को वैसा बनाते हैं तो हम आर्य हैं हम ईश्वर के पुत्र हैं नहीं तो हम ईश्वर के पुत्र नहीं आर्य नहीं है का परीक्षण भी होता रहता है बीच में क्योंकि ये केवल धारावाही भाषण नहीं है ये तो प्रशिक्षण की शैली है उपदेश क्रिया रूप में कैसे जीवन आए उसका प्रशिक्षण है आप ये बताइए मैंने जो विचार उपस्थित किए आप ऐसे सोचते हो कभी और तुलना करते हो हम परिवार के विषय में गृहस्थ के विषय में बच्चे बच्चे पैदा करने के विषय में तो सोच लेते हैं अपने परिवार के विषय में सोच लेते हैं क्या परमात्मा को पिता और आचार्य मान के उसकी आज्ञा के विषय में ऐसे तुलनात्मक सोचते हो कभी विश्वेश जी बोले नहीं सोचते हाँ जी कितना सोचते हो फिर बलवान कौन सा पक्ष देता है समाज कार्य करना चाहिए ये बलवान देता है हाँ जी सोचा और निर्णय भी लिया और निर्णय क्या लिया जैसे वेद है और महर्षियों का वेदांत मान्यता है उसी प्रकार जीवन को चलाए आगे टक्कर जो होगी विचारों की उससे हार मान करके लौट तो नहीं जाओगे क्योंकि कितने लोग तो सन्यासी बन बन के फिर के वहां चले जाते हैं देखे ना हमने और पहले वो बहुत अच्छा बोलते हैं बड़े त्यागी बड़े तपस्वी बड़े प्रवचन देते हैं और फिर वो कालांतर में नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर फिर गृहस्थी बनेंगे अथवा सन्यासी बनकर भी फिर गृहस्थी बन जाते हैं ऐसी कमजोरी तो नहीं आ जाएगी उसका भी परीक्षण अच्छा हाँ जी आगे बोलेंगे श्रीनिवास सामान्य रूप से अर्थात दोनों को समान रूप से देखते होगा ईश्वर के आदेश को और विश्व को आर्य बनाने में प्रधानता होती है अथवा परिवार की और प्रधानता होती है ईश्वर के आदेश आप भी नहीं बदलेंगे इनकी तरह या बदलने की संभावना है नहीं तो हम यू ही सोचें भाई इनको कर्मचारी पता नहीं बदलेंगे या नहीं और ये पक्के कहोगे तो क्योंकि भाई ये कर्मचारी इतने ही ये बदलेंगे बिल्कुल हम ऐसी घोषणा करेंगे और हम घोषणा करते हैं ऐसी में सारे के सारे भागते दिखे एक के पीछे दूसरा कहेंगे वो कहां गए जो कर्मचारी की प्रतिज्ञा करते थे ऐसा मत कर देना है हाँ ये आप थोड़ा विचार करता हूँ तो कौन सा प्रबल पक्ष बनता है के प्रचार करना अच्छा है संजय जी बताएंगे अपने विचार और ये साधक जी हाँ जी अच्छा तुमको तो जीत जाओगे या कभी फिर विचारों में कमजोरी आए तो छोड़ छाड़ के उसी ओर करके की ओर चले जाओगे कई एक पान पस्ती ऐसे बेचारे वो पहले पान पस्त ले लेते हैं और फिर वो फिर जाके वही के रहती बन जाती है ऐसे तो नहीं कर दोगे में अभी जो हैं उनको दबाने में प्रयास किया जा है अब तो प्रयास तो करना अनिवार्य है प्रयास के बिना तो कोई भी व्यक्ति इनको जीत नहीं सकता ये तो टक्कर युद्ध है आंतरिक ये तो स्वाभाविक है किसी को अधिक किसी को न्यून करना ही पड़ता है अनिवार्य है अब सुधांशु जी बोलेंगे तो बीच में ऐसे कमजोरी तो नहीं आ जाएगी हाँ और आगे चलेंगे ये नए ब्रह्मचारी आए हैं फिर कौन सा प्रबल पक्ष रहेगा के बाद हाँ वो उसका न, उसको तो है ही है अपने को पहले बनाया ही जाता है हाँ जी अपने सुमेर प्रसाद जी है हाँ जी अच्छा और जी कौन रह गए एक रोचक बात है और इसके साथ उसका संबंध है वो अपने स्वामी स्वतंत्रानंद जी थे स्वतंत्रानंद जी को जानते हो कितना मोटा तगड़ा अच्छा शरीर था पंजाब में उनका जन्म हुआ वो सिख परिवार में उत्पन्न हुए थे और मैंने उनको उनके प्रवचन सुने उनको देखा स्वामी वेदानंद जी उस समय में थे स्वामी आत्मानंद जी उस समय में थे स्वामी ये तीनों थे स्वतंत्रानंद तो उनकी भाषण को कभी स्वामी ओमानंद जी सुनाया करते थे कोई कई योगी उनके सामने हमारे सामने तो और उपदेश तो जैसे होते रहते थे वो सुनाया करते थे ये ब्रह्मचारी यहां गुरुकुलों में पढ़ते हैं जब चौदह पंद्रह वर्ष शादी की अवस्था में होते हैं तो बड़े देवता दिखाई देते हैं में ब्रह्मचारी रहेंगे ये करेंगे वो करेंगे और बहुत अच्छे दिखते हैं थोड़े से बड़े होते ही सारे के सारे कबूतरों की तरह कबूतरों की तरह अपने घरों में भाग जाते हैं एक कोई नहीं रहता जन देवता दिखाई देते ऐसा मत कर देना हाँ। एक पुस्तक लिखते हैं बार बार अपने कमलेश कुमार की उसमें लिखा है आर्यवन विकास में नाम नहीं देते हो घोर विरोध करते हैं आर्यवन विकास का नाम नहीं देते क्योंकि नाम लेकर पकड़ा जाए झगड़े हो जाए मुकदमे भी चल सकते हैं उनसे क्योंकि चालाक व्यक्ति होने से उसमें आना नहीं चाहते तो वो लिखते हैं आप पढ़ेंगे आर्य निर्विकाश में नाम नहीं लिया ब्रह्मचारी की घोषणा की थी और बड़ा विवरण है लंबा चौड़ा और उसमें एक भी तैयार नहीं ये उन्होंने अपने निर्णय दिया इतना झूठ ऐसा मत कर देना एक विचार और मेरी घोषणा जो चली थी याद रखिए मुझे याद है अपनी और बच्चू भाई जी ने भी याद दिला दी थी मेरे याद भी है मैंने कहा दस ब्रह्मचारियों को बनाएंगे इनको विद्वान ब्रह्मचारी और योगी बनाना है और साथ साथ मैं संकेत दिया करता हूं पर ये आवश्यक नहीं है दस के दस बन जाए और बन जाएंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता हम परिश्रम करेंगे यदि एक भी बनता है तो हमारा जीवन सफल है मैंने ये घोषणा ये नहीं जोड़ी उसके साथ मैं साथ साथ ऐसी घोषणा करता रहता हूं पर हमने तो ये दे, देखना है हमने ये देखना है कि हम ऐसा न कहलवाएं झूठे व्यक्ति तो झूठे होते ही होते हैं पक्षपात रहित धार्मिक तटस्थ व्यक्ति जो वास्तव में उस बात को वजह कहना चाहते हैं उनकी दृष्टि में हमें नीचे नहीं गिरे अपने मार्ग को नहीं छोड़े ये ध्यान देने की बात और वो जो व्यक्ति घोषणा करता है जिस कुल में चलता है ये गुरुकुल में पढ़ता है वो सदा देखता है ये कुल ये हमारी परंपरा ये आर्य समाज मेरे कारण से किसी प्रकार से कलंकित न हो जाए भले ही मैं मरू या जीव मुझे कोई चिंता नहीं है वो इस बात का ध्यान रखता है और वो व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखता है अपने आप को बुराई से बचा लेता है गिरने से बच जाता है और वो वस्तुतः उस परंपरा उस कुल का एक बहुत बड़ा उज्जवल व्यक्ति बन करके खड़ा हो जाता है ध्यान देता है हम किसी आर्य समाज के सदस्य नहीं है बने पर कोई व्यक्ति ये कह देवे ये ब्रह्मचारी है गुरुकुल में पढ़ता है आर्य समाज के गुरुकुल में उसमें कोई चोरी आदि बुरा कर्म अंदर में आ जाए वो व्यक्ति देखता है कि आर्य समाज के ऊपर ये धप्पा लगेगा कालीमा लगेगा आर्य समाज के में पड़ने वाला कर्मचारी चोरी करता है ये देखो इसकी स्थिति कि उसके दिमाग में रहता है आर्य समाज कभी बदनाम न हो जाए ऋषियों की परंपरा में तो धब्बा नहीं लग जाए ये देखो ऋषियों की परंपरा में चलने वाला भोगवादी बन बैठा है ना संध्या करता ना यज्ञ करता गुरुकुल का पढ़ा लिखा जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखता है वो बचता है बुराइयों से और महान बनता है मैं कई बार सोचता हूं ये सन्यासी के रूप में कितने लोग बिना टिकट के रेल में चलते हैं पकड़े भी जाते हैं और बहुत से आर्य समाज के अंदर जिन्होंने संन्यास लिया आर्य समाजी साधु कहलाते हैं वो भी बिना टिकट के चलते हैं और मैं क्या सोचता हूं कि मेरे ऊपर कोई ऐसी बात में आ जाए ऐसा दब्बा नहीं लग जाए कि आर्य समाज का ये सन्यासी है और ये देखो ये झूठ बोलता है छल कपट करता है बिना टिकट के बैठता है आर्य समाज इसमें बदनाम हो जाए उसका ध्यान बराबर बना है वचन देना कोई ये न कहे ये वैदिक सन्यासी ये देखो वेद के विरुद्ध बोल रहा है वेद के विरुद्ध लिख रहा आप इन बातों का ध्यान रखने से व्यक्ति कितने दोषों से बुराइयों से बचता है और महान बनता है मन में आया करती है वो ये देखा करता है और लोग इस काम को करें तो मैं करूं जब और ये नहीं करते तो मैं क्या ये प्राय सामान्य लोगों के मन में ये बात आती है आप देखेंगे व्यक्ति दूसरे समाज से दूसरे मित्रों से जनसमुदाय से प्रभावित होता रहता है पर आदर्शवादी सत्य की गवेषणा और सच्चा सत्य का निर्णय केवल सत्य पर आरूढ़ होने वाला व्यक्ति इस बात को कभी नहीं देखता वो ये देखता है मैं इस काम को अवश्य ही करूंगा चाहे संसार करे न करे इतना ही नहीं आगे बढ़ता है वो पूरा संसार यदि मेरे विरोध में खड़ा हो जाए तो भी इस काम को नहीं छोड़ूंगा इतना स्तर अपना बनाना पड़ता है बनाना चाहिए ये जो दूसरी स्थिति है और लोग करते हैं और बहुत से लोग हैं हमारे जैसे उसकी रुचि बनी रहती है उसमें उत्साह बना रहता है वो मिलके रह के करना चाहता है ऐसे मध्यम कोटि के लोग होते हैं जब दूसरे लोग जैसा काम नहीं करते उसके साथी ही ढंग के नहीं हों तो वो ठीक फिर जो है कुछ निराश होकर के उस मार्ग को छोड़ के और दूसरे लोगों का जो मार्ग है उसको पकड़ देते आपका ये संकल्प ये घोषणा कि हमें विश्व को आर्य बनाना है और वेदों की ऋषियों की परंपरा की स्थापना करनी है हम हरिश्चंद्र की बात पतंजलि की तरह सार्वभौमा महाभारत का पालन करेंगे और करवाएंगे और इसके विरुद्ध किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है यदि ऐसा करना है तो अपने आप को बिल्कुल ऐसा खड़ा करना पड़ेगा सहायता देने की बात को छोड़ के आगे बढ़ो हमारे मित्र बनेंगे हमारे साथ जुड़ेंगे बराबर काम करेंगे इसको छोड़ो व्यक्ति ये देखता है कि सारा विश्व मेरा विरोधी होगा एक भी व्यक्ति मेरा मित्र साथी सहयोग न होगा तो भी मैं कभी इस मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं ऐसे लोग इस मार्ग पर चलते इसलिए आपको निर्णय करना ही पड़ेगा अद्यव मरण वस्तु युगांतरेवा न्यायात्मथ पर विचलन थी पदम ने धीरा ये श्लोक महर्षि ने क्यों दिए इसी बात के लिए ये धीर पुरुष सत्यवादी विद्वान संयमी लोग वो इस न्याय पर जमते हैं और इस न्याय को छोड़ते हैं अदेव मरण मस्तु वा आज मर जाए या महीने और वर्षों के पीछे लंबे काल के पीछे मर सोचते हो आप हम सत्य को छोड़कर असत्य को अपना लें ये अलग बात है कि पांच जगह सत्य बोला और एक दो जगह असत्य अपना लिया यदि हम असत्य को ऐसे अपनाने लग जाए तो हमारे पास क्या रह जाता है नहीं? उससे क्या लाभ होगा सारे नष्ट के आज की समाज की स्थिति जनसमुदाय की स्थिति क्या है पता है व्यापक रूप से पति पत्नी पुत्र पिता भाई बहन है जी और यानी गुरु शिष्य राजा प्रजा दुकानदार ग्राहक सभी विभागों में ये दिमाग में बात बैठा दी गई है कि बिना झूठ के कोई काम होने वाला ये दिमाग बना दिया गया ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और अपने जो साथ खाए हुए इनसे पूछ लो ये सब इन बातों का अनुभव करते हैं अच्छा आप यहां से सन्यासी बन के निकले या निकलेंगे तो जैसे जैसे समाज में जाएंगे जैसे परिवारों में जाएंगे फिर जैसे राजा प्रजा से संबंध जोड़ेंगे वैसे वैसे यदि आपने अपने आप को बहुत अच्छा तैयार नहीं किया वैसे तो मोटी भाषा में बोलते ना एक कहने में एक मनोरंजक भाषा कि भाई खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलता है आप इन सारी स्थितियों में देख करके अपना रंग बदल जाएंगे इसे ये क्रिकेट होता है ना देखा डाली में बैठ नहीं देखा क्रिकेट की तरह रंग बदलेंगे रंग बदल के देखा नहीं देखा है कभी लाल कभी काला कभी थोड़ी देर में रंग बदल देता है उसको परमात्मा ने ऐसी भी चित्र शक्ति दे रखी है हम तो रंग नहीं बदल सकते ये बदल सकते हो काले वाले रंग का व्यक्ति नहीं रहना चाहता हूं मैं इतना सुंदर बन जाऊं बेचारे के बस की बात नहीं है क्या जी एक बात है परमात्मा ने भी ये जान रखा होगा कि भाई ये व्यक्ति रंग बदलने लग जाए तो अब डाका मार के रंग बदल के दूसरा आ जाए तो पकड़ना मत करो या नहीं होगा होगा ही नहीं होगा अच्छा ये काम कैसे पूरा हो ये जो हम ईश्वर के पुत्र बन जाएं वास्तव में और फिर बन करके हम देश विदेश में वेदों का प्रचार करें ऋषियों की परंपरा की स्थापना करें वैदिक संस्कृति को जीवित और प्रवृद्ध करें और उसके विपरीत अवैधिक परंपरा का विनाश करें अवैधिक राजनीति को काट के फेंकें अवैधिक आश्रमों की व्यवस्था बिगड़ी है उसको हटा के वैदिक आश्रमों की व्यवस्था करें आश्रमों की स्थापना करें और सत्यमय जय जय का सब जगह उपस्थापन करें आपको पता है ये चीज कैसे होगी याद रखिए ये एक दो व्यक्ति से इतनी बड़ी नहीं हो पाएगी और एक दो व्यक्ति अकेला करेगा कोई काम तो ये काम थोड़ी मात्रा में होगा यदि आप दस पंद्रह बीस और आगे संख्या बढ़ा दो इतने जने मिलकर के चले एक अनुशासन में रहे एक गुरु का अनुशासन चले देश विदेश में वो उसके आदेश का पालन करें विद्यालय में अध्यापन करना बाहर प्रचार के लिए जाना योग सिखाना ग्रंथ लिखना विदेश में प्रचार के लिए जाना धन की व्यवस्था प्रबंध करना जो भी काम करने हैं वो एक परिवार की तरह रहे तो तो ये काम हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं अन्यथा इसमें विशेष प्रगति नहीं हो पाएगी एक एक व्यक्ति अलग अलग हो करने लगेंगे तो काम तो होगा वो थोड़ी सी मात्रा में होगा सुपुट दिखाई देगा नाम मात्र का दिखाई देगा वो तो होगा अच्छा फिर आपकी ऐसी स्थिति है आप जीवन भर एक अनुशासन में रहे परिवार की तरह विश्वेश जी बोलेंगे समझ में आगे बात और दोहराऊं आ आगे जो आप बोलो मिलकर मिलके रहना एक अनुशासन में रहना एक आदेश का पालन करना जैसे कि एक वैदिक परिवार रहता है वैदिक परिवार को जानते हो ये माता पिता धार्मिक है विद्वान है उसके 10-15 सदस्य हैं सारे सदस्य ऐसा एक जैसा खाते पीते एक जैसा उनका धन संपत्ति अलग अलग नहीं एक जैसा सुख दुख एक जैसी रक्षा एक आदेश ऐसे जैसे एक परिवार होता है ऐसे साधुओं का जिसको हम कहते हैं साधुओं की परंपरा साधुओं की गद्दी आपने सुना होगा ना भाई फलाना शंकराचार्य चार गद्दियां हैं वो गद्दी वाला शंकराचार्य जो नीचे वाले दल को आदेश देता है उसको वही करना होता है ऐसी परंपरा में आपकी शक्ति मत है कि ऐसा एक एक संगठित रूप में आप रह के एक अनुशासन में रह के चल सके अभी बात समझो आप बोलो अभी विचार नहीं किया संगठित रूप में रहने का तो विचार है पर पूरा उसके ऊपर विचार विचार हाँ जी ये श्रीनिवास पूरा आशुतोष विश्वास नहीं है मतलब बहुत सारे विषयों को लेकर के तो ठीक है हाँ, हाँ। और जी संदेह हाँ साधक है हाँ जी सुधांशु हो नहीं है ये बात नहीं कहनी है ये सलाह थोड़ी देनी है या प्रस्ताव थोड़ा पारित करना है भाषा ये नए हैं नए विद्यार्थी जो हैं वो वो जानते नहीं ना यहाँ की परंपरा को इसलिए वो धीरे धीरे धीरे धीरे वही भाषा बोलने लगेंगे जो हम यहाँ शिक्षण देते हैं हाँ जी तो हाँ तो मेरा तो है अपनी बताओ औरों का नहीं पूछ रहे रहना चाहिए इसमें मत पे आज स्वयं जो व्यक्ति कहता है मैं रहूंगा और निश्चित है मेरा वो पूछ रहे हैं हाँ जी अच्छा अब सुधीर प्रसाद आज हाँ वो थोड़ी सी न्यूनता है हाँ जी अच्छा दोनों पक्षों को सोच के देखा विचार के देखा सब बुद्धिमान इस बात को स्वीकार करेंगे कोई मतभेद खड़ा नहीं होगा ये वस्तुतः एक संगठन एक गुरु के आदेश में एक देशी आज्ञा मजा करने में जो अपना और दूसरे का समाज का भला होता है इसके विपरीत अवस्था में नहीं होता इसलिए महर्षि ने एक बात लिखी ना जैसे कि उसका भाव है यद्यपि अन्य मतों में भी विद्वान है और वो अपने अखता दुराग्रह आदि को छोड़ के यदि वो मिलकर के सत्य को ग्रहण करें तो एक मत हो सकते हैं और एक मत होकर के वो चले तो बड़ा भारी कल्याण हो सकता है और विद्वानों के विरोध से बहुत बड़ा अहित होता है ये स्वाभाविक बात है इसमें यह भी बात जानने की है जो व्यक्ति वैदिक अनुशासन में वैदिक परंपरा में नहीं रह पाता या नहीं रह सकता वो व्यक्ति योगी भी नहीं बन सकता ये भी याद रख लीजिए चाहे जैसे नियम बना दो समाज के और उसको हम अनुशासन कह रहे हो ऐसी बात नहीं है यहां अनुशासन कहने का तात्पर्य वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथ उनमें जो संविधान है उस अनुशासन में रहने से तात्पर्य है और उस अनुशासन में जो व्यक्ति नहीं रहता नहीं रह सकता वो योगी भी नहीं बन सकता वहां हेम भाव मैं और मेरा अपना यश अपना धन अपनी गति अपने व्यक्तिगत जीवन को वह एक इस प्रकार से रखना चाहता है मेरा नाम हो मेरे आधीन साधन हो मैं किसी के आधीन न हो लोग मुझे ही ऐसा माने मैं अकेला गुरु बनू मेरा गुरु कोई नहीं दिखाई दे जब ये स्थितियां होती हैं तो तब व्यक्ति संगठन में नहीं रहना चाहता और जब इनको सबको दूर फेंक देता है वही व्यक्ति हेम भाव को स्वार्थ को अपने नेतृत्व को आचार्यपन को आदि आदि जितनी उपाधियां होती हैं उनको छोड़ देता है उनको बाधक देखता है और अपने आप को हेम भाव को उड़ा देता है और सब कुछ एक को ईश्वर का मान के चलता है वो व्यक्ति इस संगठन में रह, रह पाते हैं और वही योगी बनते हैं ये विचारने का है कि सारे के सारे वैदिक विद्वान दर्शनों के विद्वान व्याकरण के विद्वान वेदों के विद्वान गणितों के विद्वान योगाभ्यासी सत्यवादी यमदेव का पालन करने वाले निष्काम भावने से सर्वस्व की उक्ति देने वाले ईश्वर को ही अपना माता पिता समझने वाले व्यक्ति यदि आठ दशे एक जगह हो जाए तो बड़ा भारी एक बड़े देश के भाव को बदल देते हैं उथल पुथल मचा देते हैं लेख शास्त्रार्थ अध्यापन योगाभ्यास प्रशिक्षण आचरण ये सारी चीजें देते हैं विद्यालयों का संचालन विद्वानों को उत्पन्न करना ये जितने काम होते हैं इनको करते हैं तो बिल्कुल एक सब कुछ बदलता चला जाता है इसमें यह भी बात बहुत सी आती है जैसे बुढ़ापा आएगा हम रोगी हो जाएंगे पता नहीं कितनी आपत्तियां आएंगी उसमें क्या होता है संगठित रहने वाले की सब रक्षा होती है उसको सब तरह की सुविधाएं मिलती है इस दृष्टि से सोचो जो ब्रह्मचारी रहेगा सन्यासी बनेगा आजकल उसका कोई प्रबंध नहीं है कल्पना कीजिए और जो परिवार का रूप बना हुआ है परिवार का सुख दुख एक है मान अपमान एक है धन संपत्ति एक है चिकित्सा विभाग एक है तो क्या होता है रुग्ण अवस्था में आपत्ति काल में आक्रमण बाहर का हो जाए उस अवस्था में भी सब स्थितियों में उसकी रक्षा होती है सुरक्षित रहता है उसको सहायता मिलती है ये उपलब्धियां जो है लौकिक दृष्टि से बहुत होती है तो एक चर्चा प्रमुख आई वैदिक परंपरा वेदों की परंपरा ऋषियों की परंपरा वैदिक संस्कृति वैदिक धर्म उसकी क्या गंभीर स्थिति है किस प्रकार से उसको उड़ाया जा रहा है औरों की बात तो पीछे हम कहेंगे जो अपने को वैदिक धर्मी कहते हैं जो अपने आप को आर्य नाम से व्यवहित करते हैं उनके घरों उनके परिवारों में आर्य समाज की परंपरा लुप्त हो चुकी है ये स्थिति आ चुकी है यहां तक अर्थात वो सुधा विरोधी है की बात तो छोड़ उनके बालक बच्चे न संध्या करते न नमस्ते करते न यज्ञ में बैठते न आर्य समाज में जाते बिल्कुल उड़ा दिया गया है उन्होंने खंडित कर दिया है जो कि प्रमुख व्यक्ति कहलाते हैं औरों की साधारण व्यक्तियों को छोड़ दो विरोधियों को तो दूर रखो अभी जो विरोधी है वो तो हैं ही विरोधी ऐसी भयंकर अवस्था इस प्रकार से उसको कुचला जा रहा हो मारा जा रहा हो बिल्कुल एक एक उड़ा रहे और अमेरिका जैसे देशों की जो भयंकर उल्टी परंपरा मानव जाति को भ्रष्ट करने वाली परंपरा आचारहीनता ब्रह्मचर्य का कोई मतलब नहीं होता आश्रमों की कोई व्यवस्था नहीं होती पति पत्नी का कोई मर्यादा वहां नहीं रह गई है और ये परंपरा इतनी भयंकर आ गई है दस वर्ष का बच्चा अमरीका जैसे देशों में यदि माता के पिता के द्वारा धमकाया जाए या थोड़ा सा उसको थप्पड़ मार दिए जाए और वो सरकारी विभाग में शिकायत कर देंगे तो माता पिता को कैद में पैर मारने पड़ेंगे दस वर्ष के बच्चे को थप्पड़ मार दिया जाएगा इतनी भयंकर परंपरा आ चुकी है और ये भारत सरकार उसको ले रही है अब धीरे धीरे अध्यापक धमकाने पर उसको दंड मिलता है वो करने पर यह हो जाता है ये मूर्खों की परंपरा ली जा रही है कितनी भयंकर अवस्था है राजनीति वाले कहते हैं धर्म का नाम बदलो धर्म को उड़ा दो राजनीति के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं है अब ये सब हो रहा हो और आप और हम बैठे बैठे देखते रहे तो आपको अच्छा लगता है क्या नहीं लगेगा अच्छा क्यों आप तो आर्य पुत्र है ईश्वर पुत्र है ना वो संबंध जोड़े ना अपने माता पिता के साथ या नहीं जोड़े पिता पुत्र के संबंध जुड़ेंगे तो पिता की जो आदेश और उनकी आज्ञा वही तो पालन करना है हमें और क्या करना है और नहीं करते तो हमको क्या लज्जा शर्म नहीं आती कितना भयंकर नहीं दिखता हम कैसे सो जाते हैं खा करके खाया पिया गधे की तरह पेट मारी उठ करके पेट लगते गधा देखा है लेट लगाता है और फिर खा करके फिर अपने बोरेट होने लग जाता है नहीं बनने वाला ईश्वर का पुत्र सार्वभौम धर्म को बच्चों को लेने वाला व्यक्ति परिवार नाम की चीज को विश्व का भाग मानता है सारे विश्व का अपना परिवार मानता है जो माता पिता हमारे हैं वो परिवार सारा का सारा परिवार वो सारा विश्व में आ गया परमात्मा का कुटुंब है हम उसके पुत्र हैं अपना परिवार जहां हमारा जन्म हुआ वो माता पिता आदि भी हमारे परिवार के अंतर्गत हैं वो ये नहीं कि हमने उनको छोड़ दिया है जैसा और संसार के सदस्य है ऐसा वो भी परिवार है हम उनको अलग से नहीं देखते अलग से देखोगे तो योगी बनने की आशा छोड़ दी एक परिवार को अलग से देखने वाला एक गांव नगर को अलग से देखने वाला एक प्रांत को अलग से देखने वाला अथवा देश को अलग से देखने वाला कोई व्यक्ति योगी नहीं बन पाता कभी नहीं बनेगा दूसरी बात ये इतना अनर्थ हो रहा है इस अनर्थ को सहते हुए हम बैठे रहे तो योगाभ्यासी योगी बनने वाले ईश्वर के पुत्र इसका सहन नहीं करते अपनी पूरी शक्ति और अपने जैसे दूसरे को तैयार करने की विनाश करने की सोचते हैं और वो हटते नहीं मर जाते हैं भले ऐसी योजना बनानी ही पड़े ऐसे व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है व्यक्तियों पर समाज पर युवकों पर अब इन युवकों को हम इकट्ठा करते इनको प्रेरणा देते इनको पढ़ाते लिखाते ये क्यों इस ओर आते हैं हमने इस विषय में कुछ प्रयत्न किया है प्रयास किया है अपना सुख दुख जो है इन योगों के समान है अपनी जो जो चीजें सुविधाएं वो युवकों को वैसा ही देना चाहते हैं हम अपने लिए जो कुछ करते हैं जो कुछ कर रहे वो भी युवकों के लिए करते हैं ऐसी योजना बनती है जैसे उदाहरण के रूप में हम अच्छा खाएं अच्छा खाएंगे शरीर स्वस्थ होगा हम इनको अधिक पढ़ा सकेंगे अधिक युवकों को तैयार इसलिए अच्छा खाते हैं नेकी हम इसलिए अच्छा खाते हैं कि हमको सुख मिलेगा अच्छे से अच्छा खाओ शरीर स्वस्थ होगा बुद्धि अच्छा काम करेगी दीर्घजीवी होंगे और अच्छे से अच्छे युवकों को पढ़ा सकेंगे योग सिखा सकेंगे निरोग रहेंगे इसलिए अच्छे से अच्छा खाते खाते भी युवकों के निर्माण के लिए न कि अपने सुख के लिए लौकिक सुख के लिए खाते कुछ समझ बात नहीं आई तब युवक हमारे पास आएंगे हम युवकों को अपने साथ जोड़ सकेंगे इतना स्तर चाहिए व्यक्ति का समाज में ये मांग तो रहती है कि भाई हमको विद्वान चाहिए सन्यासी चाहिए अच्छा योग्य व्यक्ति चाहिए पर समाज में योग निर्माण की कोई बात कोई चर्चा नहीं है योगों का निर्माण कैसे होता है कितनी कठिनाई होती है कितनी युवक को सहायता देनी पड़ती है एक बच्चे की तरह उसके साथ रहना पड़ता है तब वो पंद्रह बीस वर्ष में एक युवक विद्वान तैयार होता है कल्पना कीजिए हाँ तो तीसरे दिन ये झंडा उठा के दिखाना चाहते इसने ये कर दिया ये प्रधान बना था इसने दस हजार रुपये कर दिए इकट्ठे कितने एक वर्ष में एक वर्ष में दस हजार पहले कितने थे कितने एक हजार थे नौ हजार छ आए हुए व्यक्ति को इसने कोई पहली चाय की नहीं दी क्योंकि इसने पैसे इकट्ठे करने थे आए गए दुखी रहे न सोने के लिए बस्तर दिए फटे पुराने हमारे लिए भी हम देखते हैं जिस समाज में उसमें उसी में पटे पुराने दूसरे में उसमें पटे पुराने भाई तो इनको बदल देते कम से कम दो तो देते पटे पुराने बस्तर देंगे वो और तो क्यों वैसा खर्च हो गया तो मेरे ये कैसे कहेंगे कि इतने इतने नौ हजार रुपये कर दिए इकट्ठे वो तो नौ हजार तो जिप होंगे ना अच्छे वस्त्र दो ना अच्छा भोजन घी दूध खिलाओ पिलाओ और ये दिखा दो तो कि भाई एक एक वर्ष तक एक प्रधानमंत्री रहे और इसने नौ हजार रुपये ये दिखाने की कोशिश करता अब भले व्यक्ति मुनसों का तो दिवालिया निकाल दिया आर्य समाज के विरोधी बना दिए आर्य समाज के सदस्यों को विमुख कर दिया नए लोग आए आर्य समाज से नाराज होके गए वो तेरे नाराज इसने ये दिखा देना है कि नौ हजार रुपये कटे गए बड़ी का दिमाग खराब कैसे बनेगा व्यक्ति यहां हमें अर्जुन भाई जी ने कहा कि भाई दो वर्ष तक कितना ही दूध खाओगे उनका बिल्कुल ठीक बहुत अच्छी बात युवकों के लिए अब इनके लिए पुस्तक चाहिए लाखों रुपए की पुस्तक चाहिए इतना बाहर का कितना वो चाहिए ये चाहिए अच्छा लोग कहने लगे भाई ब्रह्मचारी अधिक दूध पी कम करो <laughs> अच्छा ब्रह्मचारी अधिक खाते दो दो चम्मच दिया करो ये नियम बनाया था अग्निहोत्री जी कमलेश कुमार ने वो सोचते थे मेरे आदेश से चलेंगे और मैं डंडा रखूंगा नहीं तो नाराज हो जाऊंगा ये करूंगा उथल पुथल मचाऊंगा तोड़ूंगा इसको तो मैंने कहा देखो ये युवक है ये विद्वान है ये विद्वानों की तरह रहेंगे ये तो ऐसे भक्त है कटी को सरपंच हर दो सौ की रोटी खाई पड़े रहो गुरुकुल में वो नहीं है ये ये दो दिन भी नहीं रहेंगे क्या जाने वो व्यक्ति तीन कक्षा पढ़ा हुआ व्यक्ति वो विद्वानों को कैसे बनाते हो क्या सिर पैर का पता नहीं डंडा चलाए विद्वानों पर कितना उल्टा खराब दिमाग दो दो चम्मच खाएंगे नहीं जितना जितना दूध पी सकते उतना ही और जितना घी खा सकते उतना ही खाएंगे अर्जुन भाई जी के हमने कहा कि देखो ये बात ऐसी है कहने नहीं मैंने दो वर्ष के लिए कितना ही खाएं दो चम्मच का और इतने दूध का कोई मतलब नहीं है तो आज तक वो ऐसा चल रहा है नौवा वर्ष चल पड़ा है दो वर्ष तक आर्यवन विकास की ओर से घी दूध का प्रबंध था आगे नहीं था उससे आगे जितना काल है उसमें सामान्य भोजन का प्रबंध है समझिए मेरी बात वो जो का जो आज तक यही है बदल तो नहीं दिया क्यों जी जाने से कभी मैं झूठ बोल दू ऐसा नहीं हो जाए कितना ही दूध पिए कितना ही घी खाए शुद्ध गौ का ही चल रहा लगभग अब तक और ऊपर का जो फल आदि और पुस्तक जो भी कुछ है विद्वान के लिए हो सकता वो पूरी व्यवस्था है और वो दो चम्मच वाला मान लेते यहाँ आपको एक कर्मचारी नहीं मिलता वो दो चम्मच वाले के आधार पर एक भी नहीं आता ना आता मुंह भी नहीं दिखता है किसी का ये बिना सिर पैर की बात करते और कहते नहीं ब्रह्मचारी बादाम खाते ब्रह्मचारी काकर खाए और मूर्ख लोग ब्रह्मचारी बादाम नहीं खाए तो डाकू तो बादाम खाए जो नाच गाना करते दिन रात शराब पीते से नहीं मांग रहा हूं मैं और वो घर पे खरीद करते और ब्रह्मचारी खाए सूखी रोटी जिनमें चिकनी उसकी ऊपर की <laughs> सूखी पपड़ी हो ये खाए इनका दिमाग खराब हुआ ये कहते ये सात्विक भोजन है ये <laughs> चटोरी बन गई बिल्कुल बिना सिर पर की बात देखी हमने का बिल्कुल उखाड़ के थी हमने का जितनी संपत्ति है धन है ये पीछे और पहले ब्रह्मचारी को खाया खिलाया पिलाया जाएगा बचेगा तो उसको धन रखेंगे नहीं तो धन बचाने की जरूरत नहीं है हमने ये व्यक्ति प्रमुख है व्यक्ति केंद्र बिंदु है जिसने ये अनर्थ यहां से हुआ है व्यक्ति को गौण मान लिया संस्था चलाने वाले ने धन संपत्ति इकट्ठी की अपने को दिखाने के लिए इतना धन और उसका मालिक बना रहने के लिए और फिर बड़ी बड़ी तालिकाएं बना दी और ब्रह्मचारी बिल्कुल नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनने वाले के लिए सूखी रोटी देने के लिए तैयार ये संस्थाओं की हालत है योग कैसे बनेंगे विद्वानों को कैसे बनाया जाता है बिल्कुल परंपरा लुप्त कर दी इसलिए ध्यान दिया जाए ये निर्माण जो है किस रूप में हो सकता है ये वैदिक परंपरा जैसे प्राचीन काल में चलती थी ऐसे ही मानव निर्माण के लिए सारा बल लगता था राजा प्रजा का मनुष्य मुख्य था ये प्रवृत्ति ये स्थिति हमको बनानी ही पड़ेगी और इसके लिए हम प्रयास करेंगे मनुष्य को विद्वान योगाभ्यासी धार्मिक बना के खड़ा करना सबसे बड़ा काम है इसको एक वाक्य में कहेंगे तो सबसे बड़ा काम क्या है अपने को वैदिक विद्वान योगाभ्यासी सत्यवादी बना देना और उसके पश्चात दूसरे व्यक्ति को ऐसा बना देना बस ये संसार में सबसे बड़ा काम है विश्व का तो बात थी युवकों को विद्वान धार्मिक बना के खड़ा करना हो तो आप योजना बनाएंगे तो अपने को बनाना फिर अपने को बना करके फिर दूसरे युवकों को उसी प्रकार का तैयार करने में क्या सोचना पड़ता है कितना त्याग चाहिए कितने तपस्या चाहिए विविध दुख उठा उठा करके उनके लिए दिन रात लगा रहना पड़ता है आपको अब अनुभूतियां नहीं है आप जब इस विद्यालय की तरह विद्यालय चलाएंगे जब जो तो अनुभूतियां होंगी आज नहीं हो रही होंगी आप या हो रही है जी आज आपको वो कठिनाई और अनुभूतियां प्राय नहीं होंगी कि विद्यालय चलाया कैसे जाता है यह है जी जब घटनाएं घटने लगेंगी आपके सामने आप क्या करेंगे ये पता नहीं उसमें क्या करेंगे क्या करेंगे बीच बीच में ऐसे योग भी तो आते हैं ना भाई जो बड़े क्रोधी होते हैं बड़े उत्तेजित होने वाले होते हैं पता नहीं क्या क्या क्या पकड़ने लग जाते हैं और एक दो घटना होने पर कहेंगे बेकार है विद्यालय चलाना बंद कर दिया जाएगा आज से खत्म करते हैं तोड़ इसको ये आपके सामने आगे खड़ी होगी बात भेड़ी से चोटी तक का जोर लगाओ हजार रुपए मासिक खर्च करो लगभग और फिर उसके लिए दिन रात पढ़ाई में बौद्धिक स्तर पर उसके पीछे लगे रहो और उसके रोग चिकित्सा सब बंद करो और वो व्यक्ति जब पढ़े लग जाता है और अच्छा बोलने लग जाता है तब वो कृतज्ञ न होकर के वो फिर हुदी बन के खड़ा हो जाता है गालियां देता है आरोप लगाता है ऐसी स्थिति में निर्माण में उतरोगे या नहीं उतरोगे आप बताओ बोलो इतनी हिम्मत है है जी इतनी शक्ति आप कर लोगे या नहीं करोगे यदि कर सकते हो तो युवकों को बना सकोगे नहीं तो नहीं बना सकते पहले युवक आते नहीं भारत के कोने कोने में हम जाते हैं गुरुकुलों में जाते हैं समाजों में जाते हैं आश्रमों में जाते हैं विद्यालयों में जाते हैं घरों में जाते हैं तब एक युवक एक दो युवक बड़ी कठिनाई से मिलता है <laughs> करोड़ों में ये जो मैं ब्रह्मचारी रहूंगा वैदिक विद्वान बनूंगा योगी बनूंगा देश के एक एक मिलता है लाखों करोड़ों में कह दी एक और हम उसको कहेंगे बहुत अच्छी बात है वैसे आगे की बात है आप बनना चाहते हैं हम आपकी सहायता करेंगे गुरुकुल में भेजेंगे छात्रवृत्ति देंगे आपको और जल्दी से जल्दी संबंध अपना हटा के घर से और आदेश का पालन करो ध्यान देना उसके घर वालों को पता चल गया कि भाई अमुक व्यक्ति या स्वामी सत्यपति ने ये किया है हमारे बच्चे को प्रेरणा दी है और उसको गुरुकुल में भेजने की जरूरत है तो वो वहां से योजना बनाते इस व्यक्ति को खत्म करो धरती पर से ये जो ब्रह्मचर्य को बनाता है ये है आर्यों की परंपरा और उनकी छोड़े आर्य लोग ऐसी योजना बनाते ये लड़कियों को बिगाड़ता है लड़कियों को ब्रह्मचर्य का उपदेश देता है इसको खत्म करो मार धमकियां हमारे पास आती रहती है ये बिल्कुल जैसी जैसी घटना घटती जाती है ऐसी ऐसी आती जाती है एक थे अपने निरंजन देव जी निरंजन देव थे अच्छी बुद्धि और उनकी लगन तड़प देखते हुए कहने का जी मैं गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूं आधुनिक पढ़े लिखे हमने कहा ठीक है आप वहां चले जाओ आंध्र प्रदेश में ये लंबी कथा है होते होते होते होते वो फरीदाबाद की घटना और वो उनके पिताजी को पता चल गया कि स्वामी जी ने प्रेरणा दी और फिर उसको भेजा है वो आ गई वहां पर मानो के खाड़े में जो कौन सा का खाड़ा है देशुकालो जी का खाड़ा है वहां खाड़े के ब्रह्मचारी और युवकों से भी हमारा संबंध जुड़ा रहता है पहलवानों से उनको भी आर्य बनाते हैं मांसाहार आदि आदि छुड़वाना आदि आदि ये चलता रहता है वो पहलवान भी बैठे थे वहां कई एक जो हमारे परिचित और वो आया और मुझे पता नहीं था ये उसका पिता है नरेंद्र नरेंद्र देव का वो लगा धमकाने मुझे पता नहीं क्या क्या शब्द थे क्यों किया ऐसा क्या हुआ मैंने कहा जी हमारा तो प्रेरणा देने का काम है गुरुकुल में भेजते हैं आपका बेटा हो किसी का बेटा हो मैंने उसको बलात् से कोई कुछ नहीं किया वो फिर भी वो खूब धमकाता रहा वो बलवान देखते थे उन व्यक्ति स्वामी जी को धमका रहे आप मसाला की भी पड़ी थी उस समय उसने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ है कौन है आप दवा दे सर लाठी क्यों रात मुनका नहीं नहीं उनके प्राण सूख के बेचारे के वो चुप वो पहलवान थोड़ा सा धक्का देते तो प्राण निकल जाए तो वो ये घटना सुनाई है मेरे ऐसी ऐसी घटना पता नहीं कितनी जब ऐसा दिमाग खराब है एक युवक को ब्रह्मचारी बनाना उसको वैदिक परंपरा में खिला के खड़ा करना तनमन धन से उसकी सहायता करना विद्यालय में भेजना उसकी बौद्धिक समस्याएं प्रश्नों का उत्तर देना उसके लिए जो लोग लगे हुए हो और उसके विरोधी वो लोग जो वैदिक परंपरा को मानते हैं और उनकी बात छोड़ो मतलब कहां युवक बनेंगे होगी हमारी बात को समझते विद्वान सन्यासी भी कुछ समझते जैसे स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी जैसे सन्यासी वो कितना अच्छा मानते हैं इस काम को कहते हैं ये काम कहीं नहीं हो रहा जो ये काम किया जा रहा है स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी मॉडल टाउन जो ऐसे पक्षपात रहित व्यक्ति अपने आप को रखते हुए सोचते हैं वो विद्वान वो ब्रह्मचारी हों वो थे इन्हीं गिने लोग इन बातों को समझते हैं और वो इसमें सहयोग देते हैं प्रचार की दृष्टि से धन की दृष्टि से प्रोत्साहित करने की दृष्टि से और लोग दूसरे तो इसको समझते तक ही नहीं हो क्या रहा अब जो लोग यहां आके देखते नहीं इन ब्रह्मचारी की योग्यता देखते नहीं वो भी नहीं समझ आते हैं यहां जो लोग दो बार शिक्षण शिविर एक बार बच्चों का अलग लगता है वो लोग आते हैं उत्तर भारत से कहां से उत्तर प्रदेश या कर्नाटक तक के आते हैं वो इसको देखते हैं और देख देख कर फिर की योग्यता देखते ब्रह्मचारी प्रचार के लिए जाते रहते और यहां की योग्यता देखते वो समझते हैं कि वस्तु तो ये सबसे बड़ा काम है और वो लोग सहायता देते बनमंदर से सहायता करते तो कितनी बातें आपके सामने आई इनको लेकर के विचारिए और इस बात को याद रखिए ये जीवन पता नहीं कल रहेगा नहीं रहेगा बस कर डालो जो कुछ करना कर दो ये दिमाग व्यक्ति का है ये कितने दिन लगेंगे किस काम के करने में अलग बात है पर उसकी तड़प है उसकी रुचि उसके अंदर जो आकर्षण होता है वो कितना होता है वो दिमाग के साथ रखता कि इसको आप उसी संघर्ष या सहमति है हाँ जी आपका आपका ध्यान जैसे तो मानसिक रूप से कोई संबंध न रहते मानसिक रूप से कोई संबंध न रहते ऐसा संघर्ष चल रहा और साधक जी मानसिक संघर्ष संघर्ष और भी सुन जाएगी संबंध बना हुआ है प्रयास को भी पहले जब आपके साथ हमसे हाँ जी इससे पहले एक दो दिन से पहले विशेष प्रयास नहीं कर रहा था हाँ और आशुतोष संबंध बना हुआ मानसिक हाँ। और दूर करने का सामान्य प्रयास है तोड़ने का और ये आप मानसिक और श्रीनिवास मानसिक रूप से संघर्ष है इसका संघर्ष संबंध है इसका संघर्ष अच्छा आप इस संघर्ष में अपने को देखते हैं इसमें दो स्थितियां होंगी या तो इस संघर्ष में आप जीतेंगे या हारेंगे अब इस संबंध के तोड़ने में विजयी होना सफलता का कारण है या हारना सफलता का कारण है तो कौन सा समझते हैं आप बारी बारी संबंध को तोड़ने में आपको सफलता मिलेगी या इसको जोड़ने में सफलता मिलेगी हुँ? हम्म? हाँ जी के ऊपर आधारित यदि व्यक्ति का बहुत कम होता है तो संबंध रखते हुए उनका अधिक जॉब फिर से सुनिए आप इस संघर्ष को कर रहे हैं कि पारिवारिक संबंध को तोड़े ये संबंध नहीं टूटा बना ही रहा तो विफलता मिलेगी या सफलता व्यक्ति के ऊपर आधारित हो जाता मतलब संबंध होते हुए भी सफलता मिल सकती है संबंध होते हुए भी बहुत कम अंतर व्यक्ति तो सफलता मिल सकती तो सफलता मिल सकती है तो फिर सफलता का हमारा तात्पर्य ब्रह्म प्राप्ति ये समझना न कि लौकिक व्यापार है वो तो एक ही दिन में एक ही समय में तो नहीं मिल सकता ना पूर्व तो एक सार्थक नहीं नहीं नहीं वो प्रकरण से पार गए ना इसका ये तात्पर्य नहीं होता कि आपको हमें एक महीने में करवाना चाहते हैं यहां तो सिद्धांत पर विचार चल रहा है कितने जन्म होता है ये चर्चा नहीं है हमारी वो संबंध जुड़ा रहने पर भी सफलता मिल सकती है क्या या तोड़ने में सफलता मिलती है ये सिद्धांत अंतिम रूप देना हमने अंतिम रूप में तो तोड़ना पड़ेगा वैसे वही उत्तर देना चाहिए फिर उसको प्रकरण से पार की बात करने का मतलब है कि वो इस प्रकरण उसको पकड़ में नहीं आया विषय पकड़ में नहीं आया इसीलिए ऐसा उत्तर देता है विषय तो ये है क्या यह संबंध जुड़ा रहते हुए भी सफलता मिल सकती है क्या ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है क्या अथवा नहीं हो सकती हाँ जी वो नहीं नहीं हो सकती अच्छा जब नहीं हो सकती तो आप इसके तोड़ने में अल्प परिश्रम क्यों करते हैं या इससे संधि क्यों करते हैं या हिचकचाते क्यों हैं या ऐसा मन में क्यों है कि कभी ऐसा न हो या हानि हो जाए संबंध तोड़ने से करते हैं आप ये क्यों हाँ उसमें वो लाभ दिखाई देता है इसलिए आप संदेहात्मक रूप में या झुक जाते हैं या डरते हैं वही मूल में वही है वो लाभ का अभिप्राय हुआ फिर वही सफलता को तो आगे खड़े हो गए सफलता लाभ का मतलब है सफलता आगे खड़े हो जाएंगे आकर के अब सफलता मिलती है तो फिर परमाणु से यदि सत्य सिद्ध है तो यदि ऋषियों वाली मान्यता गलत है उसको तो छोड़ो फिर और आगे खड़े हो जाएंगे आप ये सत्य ग्राहिता से बचने के सारे इशारे ढंग आप कितनी दौड़ लगाइए सत्य ग्राहिता से बचने का ही केवल ये सारा आडंबर है आपको सुनाई थी वो व्यक्ति सोचता है इतना संघर्ष आज हजारों लाखों करोड़ों लोग महर्षि दान के शत्रु हैं और उनकी एक बात को भी धरती पर रखना नहीं चाहती क्या मैं ऐसा बन जाऊं अब कहता कि ये तो बहुत भयंकर है ऐसा बनना तो सभी के मन में कुछ मनुष्यों को छोड़ो सभी के मन में शत्रुता सभी उसके शत्रु सभी उसको बुरा देखते सभी उसकी बातों को मिटाना चाहते उनके ग्रंथों को जला देना चाहते उनकी मान्यताओं को धरती पर नहीं छोड़ना चाहते क्या इतना बड़ा संसार इतने बड़े संप्रदाय हम ऐसे बन करके जो है क्या करें विचार आता है नहीं आता फिर चीजें नहीं आप बोलिए ऐसी स्थिति आएगी आप क्या सोचेंगे तो आएगी वो तो ये जो समस्या आती है इस समस्या का समाधान व्यक्ति को आना ही नहीं पड़ सकता उसने ये देखा कि स्थिति तो यही है कि सारा संसार प्राय विरुद्ध शत्रु घातक विनाशक है मेरा और ऐसे व्यक्ति का एक और वो देखता है कि सत्यता क्या है से सत्य तो ये है एक और देखता है ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप ईश्वर के आदेशानुसार इन लोगों की ये साधारण स्थिति बनाए रखना ये है या जो महर्षिदान जैसे महान ऋषियों की मान्यता जो उन्होंने बनाई वो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप है या इन लोगों की स्थिति ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप है अंतिम परिणाम परिणाम निकालता है कि इन ऋषियों की जो मान्यताएं हैं सिद्धांत वो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप है और इसके विपरीत जो ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध मान्यताएं हैं इन लोगों की फिर तो परिणाम वही निकालेगा वो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप मैं भी बनू तो सफलता है यह ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध तो ये जन समुदाय जा रहा इसके अनुरूप होना सफलता है अंतिम बात निकालेगा परमाणु से सिद्ध है कि ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप होना ही सफलता का कारण है फिर ये बात मन में आएगा आ सकता है और होता है कि में जयते नाम लेता में जयते तो का दिमाग उसका बनता है ईश्वर के न्याय में ईश्वर की व्यवस्था में सत्य की ही जीत होती समाज में राजनीति में परिवारों में जन समुदायों में मनुष्य की रूपरेखा बनाई हुई मनुष्य की रीति नीति बनाई हुई मनुष्य के चाल चलन के आधार पर मनुष्य के शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप व्यवहार होने से इसमें अन्याय होता है न्याय भी हो अन्याय भी ये जीव की सृष्टि है इसको हम ईश्वर की सृष्टि नहीं कहते मुसलमानों के सामने आके खड़ा रहता है अर्थात ये जो राजनीति का ढांचा इसके व्यवहार और सामाजिक अवस्था पारिवारिक स्थिति इसमें जो कुछ हो रहा है या ये ईश्वर की आज्ञा आदेशानुरूप है अथवा ये मनुष्यों की अपनी स्वेच्छा से हो रहा है ये उसके सामने आती है ये बात और इसमें व्यक्ति संशयात्मक स्थिति में पहुंच जाता है उसका समाधान करता है कि वस्तुतः ये जीवों की अपनी रीति नीति बनाई हुई है अपनी कल्पना है अपनी बुद्धि के अनुसार इनकी योजना है अपने ज्ञान के अनुसार इनके न्याय अन्याय ईश्वर का इसमें सीधा कोई संबंध नहीं है तो फिर का समाधान हो जाता है फिर ये जो बात आती है कि असत्य की जीत होती है असत्य जीतता देखा जा रहा है वस्तुतः तो तो वो देख लेता है कि मनुष्यों के व्यवहार में मनुष्यों के जन समुदाय में राजनीति में ये बातें मनुष्य की अपनी बुद्धि अल्पज्ञता पक्षपातोबाजी से चलती है वस्तुतः ये जीत हार का जय विजय का यह अंतिम रूप नहीं है जय विजय का अंतिम रूप ईश्वर के न्यायालय में होगा और उसमें ये सिर बात रहेगी सत्यमेव जयते रहेगी की स्थिति के देखते हुए वो क्या करता है कि ये स्थिति सदा रही है आज है आगे भी रहेंगी ऐसे ही दृष्टि बनती बिगड़ती चलती आती है न्याय कार्य न्याय कार्य होते रहते राजा समाज के ढांचे बदलते रहते सब कुछ होता रहा है आज भी हो रहा है आगे भी होगा पर यह बात स्थिर रहेगी कि सत्य में हो जाएगी ना नहीं और जीत क्या है वही दुखों से छुट करके नित्यानंद आनंद की प्राप्ति अंतिम परिणाम ये निकालना ये जीत है मान अपमान हानि लाभ शत्रुओं का पैदा होना मार डालना विविध दुख देना जितनी भी कल्पना एक सृष्टि में हो सकती है सारी बातें मेरे ऊपर आ सकती है और मैं उन बातों को दूर करने का सामर्थ्य उत्पन्न करता हुआ दूर करता हुआ या मैं दूर करके उनको सहता हुआ अपनी सत्यता को अपने सत्य सिद्धांत को नहीं छोड़ो ये सारा विचार मंथन परीक्षण करना अनिवार्य है मनुष्य शरीर मनुष्य के उपकरण ईश्वर ने इसीलिए दिए और इसका कोई मुख्य प्रयोजन नहीं इस मुख्य बात को विश्व भूल चुका और बेकार मिथ्या कल्पना उसने कर लिया अपनी सभी कार्यकलाप की मिथ्या धारणा मिथ्या लक्ष्य मिथ्या साधन मिथ्या उसके सुख दुख जो भी कल्पना करता है वो सारी की सारी बिल्कुल घातक और मैं और आप भी उन्हीं के प्रभाव से प्रभावित होकर उन्हीं का अनुकरण करने लगे प्रत्येक अंश को प्रत्येक विभाग को विभाजित कर करके व्याख्या की फिर कसौटी से कसी फिर समय समय पर मंथन फिर मंथन वर्षों तक आप ऐसा मत मान लेना दो चार पांच वर्ष आदि वन विकास में रहे बेटा पार हो गया ये बात ऐसी नहीं है आपको अनुशासन में किसी विशेष महापुरुष के अनुशासन में रहना ही पड़ेगा उसके अधीन चलना ही पड़ेगा यदि वो नहीं मिलता तो ऋषियों के मान्यता सिद्धांतों के अधीन चलना ही पड़ेगा उसमें विकल्प नहीं है यदि विकल्प है तो निश्चित रूपेण आप विकल्प हो जाएंगे